बसमीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सलात वसलाम मल्ला नबी बादा फ़ाउद बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह वयसर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिल्लिसानी अफ़क़हु कौली सदक़ल्लाज़ीम व सदक़ रसूल करीम व नहन अलाका मिन शाहिदीन सल्ला वसलम तस्लीमन कसीरा कसीरा अम्माबाद जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑफ कर लें साइलेंट पर ना रखो बिल्कुल ऑफ कर दें दीनी मजलिस में मोबाइल फ़ोन खुला रखना ये बद अखलाकी की बात है जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात हो रही हो हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला जाए साइलेंट पर रखने से उसमें कुछ ना कुछ हरकत होती है दरमियानी बयान में ख्याल चले जाता कभी कभी आदमी को बीच से उठना पड़ता कभी कभी आदमी को दरमियान से उठना पड़ता इसलिए मेरे अजीज़ों दीनी मजलिस में जब हम बैठते हैं अपने मोबाइल फ़ोन का बिल्कुल ही स्विच ऑफ कर दें बिल्कुल ही स्विच ऑफ कर दें दूसरा काम यह है कि मजलिस को मजलिस की शक्ल बनाएं मजलिस को मजलिस की शक्ल बनाएं बीच में जगह ना छोड़ें मजलिस के बीच में जगह छोड़ना दरमियानी मजलिस में पैर फैलाकर बैठना ये भी बद अखलाक़ी है हम जिस काम को लेकर चल रहे हैं ये अखलाक वाला काम है मजलिस को मजलिस बनाएं अगर किसी के सामने थोड़ी सी भी जगह दिख रही हो उसको पुर कर लें अपने सामने थोड़ी बहुत जगह तो दिख ही रही होगी इसमें दो फायदे होंगे इसमें दो फायदे होंगे पहला फायदा यह है कि हमारे दरमियान शैतान नहीं घुसेगा दूसरा फायदा यह है कि बाद में आने वालों को पीछे जगह मिल जाएगी वरना पीछे आने वाले लोग ये समझेंगे कि भाई भरी हुई है भरी हुई है वो इधर उधर रहेंगे बाद में आने वाले लोगों को मस्जिद के अंदर जगह मिलेगी तो उसका सवाब हमें ही होगा उसका सवाब हमें ही होगा इसलिए मेरे अजीज़ों हमें चाहिए कि हम लोग अपने सामने अगर कोई खाली जगह हो तो उसको ज़रूर पुर करें मजलिस को मजलिस की शक्ल बनाए क्योंकि ये अखलाक की बात है अखलाक नबियों की देन है पूरी इंसानियत को अखलाक नबी सिखाते हैं नबियों के बगैर नबूत के बगैर कोई भी बाखलाक हो ही नहीं सकता अखलाक इंसानियत को जो मिलते हैं वो नबियों के ज़रिए से अल्लाह देते हैं नबियों के ज़रिए से देते हैं साहबा इकराम ने पूछा अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तहा से कि अम्मा जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बताओ तो अम्मा जान ने फरमाया रजी अल्लाह तहा कुरान नहीं पढ़ते हो कुरान नहीं पढ़ते हो कि जी पढ़ते हैं तो फरमाया कि पूरा कुरान अखलाक है मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी अगर अखलाक ना दें तो इंसानियत नंगी हो जाएगी उनके बदअखलाकी मैार बन जाएगी इंसानियत का नबियों के अखलाक अगर ना हो खड़े होकर खाना मैार बन जाएगा इज्जत का मैार खड़े होकर खाना इज्जत का मैार खड़े होकर खाना इज्जत का मैार कम कपड़े पहनना अम्बी आलम सलाम के अखलाक को हम मैार ना बनाएं तो फिर हम सब जो है अखलाक से कोरे हो जाएंगे जो चीज़ अखलाक नहीं है उसको हम अखलाक का मैार समझेंगे यकीन की ज़ाहिरी शक्ल अखलाक हैं यकीन की ज़ाहिरी शक्ल क्या है अखलाक है जिस आदमी में यकीन नहीं है वो अखलाक इस्तेमाल नहीं कर सकता जिस आदमी में यकीन यकीन नहीं है वो अखलाक इस्तेमाल नहीं कर सकता यकीन की ज़ाहिरी शक्ल अखला जिसमें जितने अखलाक होंगे जिसमें जितना यकीन होगा वो अखलाक में इतना बुलंद होगा जितनी जिसमें जितना यकीन होगा वो अखलाक में इतना क्या होगा बुलंद होगा खैबर की एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत पर बुलाई बकरा काटकर गोश्त बनाया उसके अंदर जहर मिला दिया क्या मिला दिया जहर मिला दावत है आपकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के लिए चले गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के लिए चले गए कुछ सहाबा खा चुके थे और कुछ खाने वाले थे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त का एक टुकड़ा जिसे हमारे यहाँ नल्ली बोलते ना जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उठाया तो उस हड्डी ने बोला या रसूल अल्लाह आप मुझे ना खाइए मेरे अंदर जहर मिला हुआ है हड्डी ने कहा कि या, या रसोल्ला आप मुझे ना खाइए और मेरे अंदर क्या मिला हुआ है जहर मिला हुआ है हजूर वसल्लम ने खाने को छोड़ दिया साहबा को भी रुकने को कहा और बा, बाकी साहबा सब लोग मिलकर उठकर चले गए और कुछ साहबा उस जहर को खाकर दुनिया से रुखसत भी हो गए नही राजू लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को कुछ नहीं कहा माफ कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को कुछ नहीं कहा क्या कर दिया माफ कर दिया अखलाक अल्लाह रबुल्ज़त इंसानियों इंसानियत को नबियों के ज़रिए से देती माफ़ करने वाली सिफत एक साहबी आकर पूछे या रसूल अल्लाह मुझे अखलाक सिखाइए मुझे अखलाक सिखाइए तो रसूल वसम ने फरमाया सिलमन कता वाफ़ अमन ज़लमक तू ती हरमक तीन बातें हैं सीख ले और ये अखलाक का आला है आ रहे जो तुझ पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दे जो तुझे कता ताल्लुक करे तो उससे उसको जोड़ ले अखलाक यकीन यकीन से बनते अखलाक यकीन से बनते जिसमें जितना यकीन होगा अल्लाह इज़्ज़त अल्लाह इज़्ज़त उसके अखलाक को उतने बुलंद बनाएंगे उसके अखलाक को उतने बुलंद बनाई जी अखलाक बनते हैं यकीन से यकीन की दुरुस्तगी से अखलाक बनते हैं दुनिया की मोहब्बत से ख़त्म होते हैं दुनिया की मोहब्बत से ख़त्म होते दुनिया की हिरस से अखलाक ख़त्म होते दुनिया की हिरस से क्या होते हैं अखलाक ख़त्म होते माल की मोहब्बत से अखलाक ख़त्म होते माल की मोहब्बत से अखलाक ख़त्म होते इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कोफे का काजी बनाने के लिए पैगाम भेजा तो उन्होंने इनकार कर दिया 120 कोड़े खाए 120 कोड़े मैं काजी नहीं बनूंगा अहदा आएगा साथ में माल आएगा तो फिर मेरे अखलाक ख़राब हो जाएंगे अहदा आएगा माल आएगा तो मेरे अखलाक क्या हो जाएंगे ख़राब हो जाएंगे अल्लाह रब्ज़त ने यकीन यकीन की दौलत अल्लाह ने हमें अता फ़रमाई ईमान की दौलत अल्लाह ने हमें अता फ़रमाई तो ईमान का खासा और यकीन का खासा है अखलाक के दुरुस्त होना क्योंकि अखलाक यकीन की ज़ाहिर शक्ल है जिस आदमी में जिस आदमी में जिस आदमी में जितना यकीन होगा उसके अखलाक उतने बुलंद होंगे इबादत मेरे अजीज़ों अल्लाह में कदरदानी की तोफ़ी नसीब फरमाए जी इबादत तो अदना यकीन वाला भी कर लेगा इबादत तो अदना अदना अदना यकीन वाला भी इबादत कर लेगा लेकिन अखलाक अखलाक अदना अदना यकीन वाला नहीं कर सकता अदना यकीन वाला नहीं कर सकता हम जिस मेहनत में लगे हुए हैं ये मेहनत अखलाक वाली मेहनत है और इस मेहनत अखलाक से फैलती है अखलाक के बगैर इस मेहनत में कुछ भी नहीं है ईमान का बढ़ना ईमान का फैलना इंसानियत को हिदायत का मिलना ये अखलाक की बुनियाद पर होता है ये अखलाक की बुनियाद पर बताएं अखलाक की बुनियाद पर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमत दूसरी मंजिल पर रहते थे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमत दूसरी मंजिल पर रहते थे उनके पड़ोस में एक मोची चप्पल सीने वाला उनके पड़ोस में एक चप्पल सीने वाला दिन भर चप्पल सीता आके रात में शराब पीता शराब पी के रात भर के गाना बजाना शोर शराबा लेकिन आपकी इबादत में बड़ा खलल पड़ता आपकी इबादत में बड़ा खलल होता लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ रहमत उसको कभी कुछ ना कहते क्योंकि पड़ोसी है हमारे घरों में झगड़ा होते हैं कि मेरे घर की तरफ कचरा डाल दिया कभी कभी सुबह सुबह बाजारों में देखते नहीं छोटी छोटी गलियों के अंदर बाल पकड़ लेने का एक कमरा था क्या कहते तो पानी फेंक दिया या कचरा फेंक दिया या कूड़ा फेंक दिया लेकिन इमाम आजम ने कुछ नहीं कहा जब कुछ अरसा गुजर गया तो दो दिन दिन से उसकी आवाज़ नहीं आई तो घर में पूछा कि कहाँ गया हमारा पड़ोसी दो चार दिन से उसकी आवाज़ें नहीं आ रही तो घर के लोगों ने बताया उसको पुलिस पकड़ ले गई जेल में डाल दिया उसको पुलिस पकड़ ले गई कहाँ डाल दिया हमारे जैसा होता तो बोलते अल्लाह का शुक्र है भाई पीड़ा पाक हो गया अल्लाह का शुक्र है भाई पीड़ा पाक हो गया यही ना बोलते ना हम बा बड़ा सिर का दर्द था भाई चले गया उसे पकड़ गए लेकिन इमाम साहब क्या करें अपने खच्चर को निकाले खच्चर को सवारे खच्चर पर बैठे खच्चर पर बैठे और चले उसके पास हाकिम के पास जब जाके हाकिम के दरवाजे को खटखटाए तो दरबान ने जाकर कहा कि हाकिम साहब इमाम साहब आए हैं तो हाकिम कहा कि दरवाज़ा खोल के उनको खच्चर समीत अंदर बुला के ले आओ किसके समीत खच्चर समीत अंदर बुला के लाओ और जब अंदर आ गए खच्चर समीत तो हज़रत आप यहाँ आ गए मैं आता तो अच्छा था मुझे खबर कर देते आपके पास मैं आता क्या बात है कि न कहा जी हमारा एक पड़ोसी था वो तुम्हारे यहाँ कैद हो गया है कि कितने दिन पहले कैद हुआ तीन चार दिन हो गए तो हाकिम ने कहा तीन चार दिन से जितने लोग कैद हुए हैं सबको बुला के ले आओ चालीस पचास आदमी हैं क्या करें सबको बुला के लाओ तो कौन है तुम्हारा पड़ोसी न कहा ये मेरा पड़ोसी है कि ठीक है ये भी आज़ाद इसके साथ ये सब लोग भी आज़ाद ये भी आज़ाद और इसके साथ ये सब लोग भी क्या हैं आज़ाद अब सब लोग आज़ाद हो गए इमाम साहब का इकराम और तकरीम के साथ उन्होंने वापस कर दिया अब वो जो पड़ोसी आया घर में अब उस दिन जब इमाम साहब का मर्तबा रुतबा देखा तो फिर उसे तोबा की तोफीक हो गई और तोबा करने के बाद और फिर उन क्या करता इमाम साहब की मजलिस में जाकर बैठता इमाम साहब की मजलिस में जाकर बैठता और यहाँ तक के इमाम साहब के शागिर्दों में बहुत बड़ा फ़की बन गया बहुत बड़ा फ़की बन गया और उस वक्त में जिन लोगों की रिहाई हुई थी वो सब लोग तोबा करे और ईमान पर भी आ गए ईमान पर भी आ गए अगर ये एक अखलाक अल्लाह के वास्ते अगर हमने इस्तेमाल किया ये अखलाक बरती हमने अल्लाह रब्ज़त हज़ारों इंसानियत का ईमान अता फरमा हम ईमान की मेहनत में लगे हुए हैं बग़ैर अखलाक के बग़ैर अखलाक के नबी आते ही हैं अखलाक लेकर अखलाक की तालीम मिलती है नबियों के ज़रिए से अखलाक की तालीम मिलती है नबियों के ज़रिए से अखलाक बनते हैं यकीन से यकीन सीखना यकीन सीखना यकीन के बगैर अगर कोई कोई अखलाक करे ना वो रियाकारी वाले अखलाक होंगे बनावटी अखलाक ज़्यादा दिन नहीं चलते बनावटी अखलाक ज़्यादा दिन चलते क्या भाई एक बार दो बार जी हुजूर जी हुजूर बोलते अब लास्ट में धर को लाश मारते बनावटी अखलाक ज़्यादा नहीं चलती रियाकारी हो यकीन के साथ जो अखलाक होते हैं और उसका असर भी होता है और उसकी वजह से अल्लाह लोगों के कल्ब पलटते हैं लोगों के दिल पलटते हैं जो बनावटी अखलाक होते हैं वो उसके लिए भी खुद काम नहीं देते उसके लिए भी काम नहीं देते हाँ? उसके लिए भी काम नहीं देते हाँ? मेरे अजीज़ों अखलाक बनते यकीन से हैं हाँ। जिसके पास जितना यकीन होगा और उतने अखलाक आएंगे इसलिए इसलिए कि हम लोग यकीन पर मेहनत करना ताकि हमारे अंदर अखलाक आए अखलाक यकीन की ज़ाहिरी शक्ल है अदना यकीन वाला भी इबादत कर सकता लेकिन अदना यकीन वाला अखलाक के कामिल नहीं दिखा सकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व इन्नकल आला खुलुकिन अजीम व इन्नकल आला खुलुकिन अजीम अय नबी जी आपको हमने आला अखलाक दिए हैं आपके जैसे अखलाक तो किसी के हो ही नहीं सकते आपके जैसे अखलाक तो किसी के हो ही नहीं सकते हमने आपको ऐसे अखलाक दिए हैं कि उस जैसे अखलाक तो किसी दूसरे के हो ही नहीं सकते लबीद बिन असम ने आप वसल्लम पर जादू कर दिया मशहूर वाक़ है आप लोग भी सुने होंगे सर में करने वाली कंगी सर में से निकले हुए जो बाल होते ना उस पर उसने और कुछ मंत्र पढ़ के खजूर की छाल में भर के जी और जीरान नाम के कुएं के अंदर एक पत्थर के नीचे उसको दबा के आया जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुस्ती और गशी आती थी और बुखार बुखार से बदन गर्म रहता था खुद जब्राइल सलाम ने आकर इतला फरमाई खुद जब्राइल सलाम ने आकर क्या फरमाई इतला फरमाई या रसोल्ला फला आदमी ने आप पर जादू किया और फला बोड़ी में फला कुएं में फला चीज तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारे बालों के जरिए और कंगे के जरिए से और वो दबा कर है आप उसको निकाल कर दफन करा दीजिए और आपकी हालत बहाल हो जाएगी जिन साहबा को भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने बताया वो कुएं का पानी खून की तरह लाल था उस दरख्त के पेड़ पौधे ऐसे भयानक थे और जैसा कि उसके अंदर घुसते ही एक वहशत हो रही थी जब मैंने वो चीज़ें और निकाल कर और देख कर ज़मीन के अंदर उसको दफन कर दिया पानी बिल्कुल सफ़ेद हो गया और उस बगीचे के अंदर से वहशत भी ख़त्म हो गई साहबा जमा हो गए या रसोल्ला वसल्लम नाम बता दीजिए उसका वो कौन शख्स है उसकी तिक्का बोटी कर देंगे नाम बता दीजिए उसका कौन है जिसने आपको इतनी बड़ी तकलीफ दी आप बता दीजिए अब उसको हम तिक्का बोटी कर देंगे यानी कि उसको दुनिया से उड़ा देंगे बताइए कौन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया कि नहीं नहीं मैं ये बताने के लिए नहीं आया हूँ मैं तो अखलाक अजीमा के साथ आया हूँ अखलाक किसके साथ अजीमा के साथ आया हूँ अनस इबन मालिक से कहा कि ले जाओ फला तश्त में फला मेहरान में कुछ अशरफियाँ और कुछ दिनार होंगे ले जाओ फला आदमी को जाके देकर आना फला आदमी को जाके क्या करना देख कर आना अखलाक तो हमारे नबी सिखाते हैं हमें हमारे नबी हमें सिखाते हैं थोड़ा सा हमें तू तड़ाक बोल दे तो हम बात करना छोड़ देते हैं थोड़ा सा हमें कुछ कह दे तो फिर हम उम्र भर उसका बदला नहीं छोड़ते हमारे शाह साहब फरमाते थे अखलाक तोलना हो तो बीवी से पूछो अगर किसी को उसके अखलाक कैसे है मालूम करना हो तो जाके आराम से बीवी से पूछो क्या गए मैं कैसा आदमी गया बोल के पूछो मैं अच्छा खराब बोल के पूछो बीवी चिट्ठा खोल दी क्या करेगी बीवी पूरा चिट्ठा खोल देगी दुनिया में अगर कोई जालिम हो सकता है तो सबसे बड़ा जालिम तुम ही हो इल्ला माशाल्लाह सब तो ऐसे नहीं होंगे दावत की बरकत से माशाल्लाह औरतों में भी मर्दों में भी दीन आ रहा है अल्लाह का फजल है दावत की मेहनत की बरकत से औरतों में भी और मर्दों में भी दीन आ रहा है बाज लोग ये समझते हैं औरतों में दिन अब अब आ रहा है ऐसा समझते हैं पहले कान था क्या था औरतों के अंदर कुछ भी नहीं था क्या कि अब अब आता है ऐसा समझते हैं खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया आयशा सिद्दीका के पास दीन का आधा इल्म है कौन फरमाए थे ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तला के पास दीन का क्या है आधा इल्म है बड़े बड़े साहबा किसी मसले में अटक जाते तो आयशा सिद्दीका से आकर पूछते और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तला उनको बताते कि यह मसला ऐसा है यह मसला ऐसा है शोहर के वास्ते से अल्लाह ने दीन दिया शोहर के वास्ते से अल्लाह ने क्या दिया दीन दिया मर्दों के भी अखलाक बन रहे हैं औरतों के भी अखलाक बन रही मर्दों के भी अखलाक बन रही औरतों के भी अखलाक बन रही शेख सादी अली रहमा लिखते हैं अपनी किताब में अच्छे अखलाक वाला आदमी अच्छे अखलाक वाला आदमी ज़मीन पर जब सफ़र करेगा ज़मीन पर जब सैर करेगा उसके ज़रिए से जितनी खैर फैलेगी बदखलाक वाले आदमी पूरी दुनिया से भर जाए अगर वो पूरे लोग भी अगर सैर तफरी और ज़मीन पर चले फिरेंगे उतनी खैर नहीं फैलेगी अखलाक वाले एक आदमी से जितनी खैर फैलेगी अखलाक वाले पूरे इंसानों से भी उतनी खैर नहीं फैलेगी अखलाक में बड़ी जाजबियत है बड़े बड़े दुश्मन गुलाम बन जाते हैं बड़े बड़े दुश्मन क्या बन जाते हैं गुलाम बन जाते हैं और हम लोगों को सब कुछ आ रहा है अखलाक अखलाक हमें हमें सब कुछ आ रहा है हम सब कुछ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अखलाक उसके मैार को भी नहीं समझे कि क्या होता है फला मौके पर हमें क्या करना फला मौके पर क्या करना हाँ। मर्दों के लिए भी अखलाक ज़रूरी औरतों के लिए भी अखलाक ज़रूरी और बच्चों के लिए भी अखलाक ज़रूरी माँ बाप के जैसे अखलाक होंगे और बच्चों के वैसे अखलाक होंगे एक अजीब बात उलमा इक्राम तो है यहाँ पर बदायु सनाए हनफियत की किताब जिसके अंदर मसले जो भी मुफ्ती फतवा देंगा और बदायु सनाई किताब से देते नाम तो सुने होंगे अक्सर लोग हम भी बदायु सनाई क्या करे एक साहब उनकी एक बेटी थी तो बोले कि मेरी बेटी को इल्म में जो आदमी हरा देंगे उसको मैं अपनी बेटी देके शादी करूंगा अगर कोई आदमी मेरी बेटी को किस में इल्म में हरा देंगे तो मैं उसको अपनी बेटी को देकर क्या करूँगा शादी करूँगा ये तो साहेब बदायु सनाए हैं कि उन्होंने ये किताब लिखकर अपने ससुरे को दिए देखो तुम्हारी बेटी को दिखाओ अगर तुम्हारी बेटी राजी होगी तो मैं शादी कर लेता हनफियत का हनफियत का जो भी फतवा हिंगा और वो फतवा और तकरीबन 90 फीसद फतवे उसी किताब से निकालते बदायुसना नाम किताब जब उन्होंने किताब लिख कर गए वो किताब लिख कर दिए तो उनकी बेटी ने कहा कि क्या बेटा क्या बोलती है इसके बारे में तो ठीक है अब्बा जी चल जाएगा क्या बोल रही बेटी वो कि ठीक है अब्बा जी चल जाएगा अंदाजा करो उस जमाने में औरतों के पास भी कितना इल्म था साहब बदायु सनाया जो फतवा लिखते थे उस पर उनके बीवी के उनके ससुर के दस्तखत होते थे उनकी बीवी के और उनके ससुर के दस्तखत होते थे अखलाक अखलाक कुरान है अखलाक कुरान है ये जो इल्म हमें दिया गया है ये अखलाक की दुरुस्तगी के वास्ते दिया गया है ये जो इल्म हमें मिला है ये अखलाक की दुरुस्तगी के वास्ते दिया गया है मुजद अल्फ़ानी रहमत फरमाते जिसकी इबादत अच्छी होगी उसके अखलाक अच्छे होंगे और जिसके अखलाक अच्छे होंगे उसकी इबादत अच्छी होगी ये दोनों आपस में लाजिम और मलजुम है ये एक मिसाल देता हूँ मैं हजरत की बात का जो आदमी नमाज में नज़र सही सालिम रखेगा ना तो नमाज के बाहर उसकी नज़र अच्छी रहेगी नमाज के बाहर नज़र उसकी क्या रहेगी नमाज में नज़र अगर इधर उधर जाएगी तो ऐसे समझो और जैसा कि नमाज के बाहर भी वो बदनजरी करेगा और अपने अखलाक बिगाड़ लेगा अपने अखलाक बिगाड़ लेगा बहुत सारी हमतें मेरे अजीज़ों अल्लाह इज्जत ने जो अखलाक दिए हैं वो पूरे के पूरे कुरान में और कुरान के ज़रिए से अल्लाह ने हमें अखलाक दिए हैं वो कुरान के इल्म से मर्द भी दूर हैं औरत भी दूर हैं कुरान के इल्म से मर्द भी दूर हैं और औरत भी दूर है हर मस्जिद में मकतब तो है लेकिन उसमें हमारी हाजिरी नहीं है हर मस्जिद में क्या है मकतब है लेकिन हमारी हाजिरी उसमें नहीं मकतब तो हर मस्जिद में है लेकिन हमारे बच्चे उस मकतब में नहीं है हमारे बच्चे उस मकतब में नहीं है अगर हम लड़कियों की शादियां करें या लड़कों की शादियां करें माल तलाश कर दें इल्म तलाश नहीं करते माल तलाश कर दें देखो साहेब बदाई कैसा करते हैं जो मेरी बेटी को इल्म में हरा दे उसे मैं अपना दामाद बनाऊंगा मैं उसे अपना जमाई बनाऊंगा ओफो देखो भाई एक बात और सुनो अल्लाह में कदरदानी की तोफ़ी नसीब फरमाए इमाम तहावी नाम सुने होंगे आपने मसल के हनफियत के तमाम अहादीस को उन्होंने एक जगह जमा कर दिया है इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्दों में से हैं इमाम तहावी रहमत और उनकी हदीस की किताब उनकी लिखी हुई तहावी शरीफ है और जो अपनी किताब लिखाते थे वो इमला कराते थे बगैर देखे बोलते थे और जबान से उनकी बेटी लिखती थी उनकी बेटी लिखती थी उन्होंने लिखाते और उनकी बेटी लिखती हदीसों के अंदर वो हदीस भी आ गई कि जब जब बीवी से सोहबत करते हैं तो गसूल वाजिब होता है लिखाने वाले बाप हैं लिखने वाली बेटी है लिखाने वाले बाप हैं लिखने वाली बेटी है और बेटी लिखते लिखते मुंह पे ऐसा हाथ रख लिया शर्म के मारे लिख रही है बेटी जब हम बीवी से सोहबत करते हैं तो गसूल क्या होता है वाजिब होता है तो लिखते लिखते बेटी शर्मा कर लिखते लिखते बेटी शर्मा कर मुंह के ऊपर हाथ रख लिए इमाम तहावी ने देखा कि बेटी मुस्कुरा रही है बात की तरफ ध्यान गया और आपको शर्म आ गई उफो मैंने बेटी के सामने कैसी बात कर दी बेटी के सामने मैंने कितनी गंदी बात कर दी उसी शर्म के अंदर और उसी हया के अंदर और उनकी तबीयत के अंदर और ऐसा इफ्तियाल हो गया कि उसी वक्त में आपकी वफात हो गई शर्म से इतने बड़े इमाम बेटी के सामने बेहयाई की एक बात बोलकर एक बात बोलकर दुनिया से रुखसत हो गई अब टीवी दिखाओ तो मैं घर में भी बच्चों को बिठा के अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा कारी तैयब साहब रहमत ने फरमाया टीवी अखलाक बिगाड़ती है टीवी अखलाक बिगाड़ती है कौन सा घर ऐसा है जो टीवी से बचा हुआ है बाप और बेटी और माँ और बेटी और बहन और भाई और बैठे हुए हैं और जो है कैसा अजीब और गरीब तमाशा देख रहे हैं कितनी बेहयाई का तमाशा देख रहे हैं और उधर वो तमाशा देख रहे हैं और आपस में एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं अखलाक कैसे बनेंगे अखलाक कैसे बनेंगे कारी तयब साहब रहमत फरमाते कि टीवी जो है अखलाक का जनाजा निकाल देती है अखलाक का जनाजा निकाल देती है अच्छा लिबास पहनकर किसी से एक या दो बात मुस्कुरा कर कर देना ये अखलाक का नमूना नहीं है पूरी जिंदगी का नाम अखलाक है जिंदगी के हर मोड़ पर अखलाक की जरूरत पड़ेगी और अखलाक यकीन के बदक बकदर होंगे यकीन बनाने की मेहनत अल्लाह ने हमें अता फरमाया और उसके साथ साथ और ये अखलाक वाली मेहनत है और ये हमारी मेहनत अखलाक के बगैर बेकार है अगर हमारे पास अखलाक नहीं है मैं नहीं समझता कि हमारी मेहनत का कितना असर लोगों पर पड़ता होगा मैं नहीं समझता कि कितने लोगों पर पड़ता होगा हमारा असर कर्जा ले लिया किसी का दिया नहीं किसी को गाली दे दिया महल्ले के अंदर चार आदमी से इन्हों बात नहीं करते कैसे कश करेंगे हरे के साथ गुस्सा हरे के साथ लड़ाई हरे के साथ झगड़ा मेरे अजीज़ों अखलाक का मैार अम्बिया है और मेरे और आपके अखलाक का जो मैार है खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मेरे और आपके अखलाक के मैार खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अल्लाह ने जो इल्म दिया है और वो अखलाक की बुनियाद पर थानवी रहमत फरमाते जिक्र बाद में करना पहले अखलाक ठीक करना थानवी रहमत को भी जानते ही होंगे अशरफ अली थानवी रहमत थाना भवन के तो फरमाते कि जिक्र बाद में करना पहले अखलाक ठीक करना क्या ठीक करना अखलाक ठीक करना अखलाक ठीक करना फरमाते थे अखलाक के बगैर जिक्र करना ऐसा है मैले कपड़े पर इतर लगाना अखलाक के बगैर जिक्र करना कैसा है मैले कपड़े पर इतर लगा और अखलाक बनाकर जिक्र करना ऐसा है और जैसा कि के साफ शफाफ कपड़े पर क्या लगाना इतर लगाना जब आपके पास कोई आता तो पहले अखलाक ठीक करता पहले अखलाक ठीक करता खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान के अंदर अखलाक दुरुस्त फरमाए हैं शुरू शुरू के कुरान के अंदर शुरू शुरू कुरान के अंदर जो मक्की सूरतें हैं उसमें ज़्यादातर अलैहि वसल्लम को ये बात बताई गई है ऐसा बात करो ऐसा रहो ऐसा करो वैसा करो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं सारी चीज़ें ऐसी हैं अनस इब्ने मालिक फरमाते मैं छोटा बच्चा था मैं हजूर वसल्लम की खिदमत में रहता था और मुझे उन्होंने बेटा बना लिया था रसूलुल्लाह वसलम ने मुतबन्ना बना लिया मुझे एक काम के लिए भेजा कि फला जगह चले जाओ तो मैं चला गया बाहर मैं तो बच्चा था बाहर खेल तमाशा चल रहा था मैं खेल देखते हुए खड़ा हो गया खेल तमाशा देखते हुए खड़ा हो गया कौन फरमाते अनस इबन मालिक और काफ़ी वक्त गुजर गया काफ़ी वक्त गुजर गया जब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाहर निकले बाहर निकले तो वो बच्चों में खड़े होकर देख खेल देख रहे हैं तमाशा देख रहे हैं अनस ने मालिक तो हजूर वसल्लम आके सबसे पहले आग दबाएंगे थे उनके क्या दबाई आग दबाई हमें ये तो क्या करती बा बोलो दो गालियां सुनाती पहले आग दबाना मोहब्बत में होता है मालूम की नहीं कि कर्नूल वाले हमारे चावल में आलम पूछो बोलती नखो कौन तो किसे तो हम क्या पूछेंगे तो गुस्से में मुझती या मोहब्बत में मुझती हाँ जी मोहब्बत में मुझती हजूर साहब आके कि उन्होंने क्या करी हम क्या पकड़ी हम क्या पकड़ने के बाद फिर क्या करी ऐसे ऐसा तो फिर गर्दन पकड़ी तो अनसिब मालिक फरमारे मैं बहुत झंझला ऐसे ऐसे करके अरे मैंने जब पीछे को देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं डर गया पीछे देखा तो कौन है वो रसूल में डर गया हाँ। तो हजूर सल्लम ने कहा था जिस जगह जाना था आप गए क्या बोले जिस जगह जाना था आप गए ये नहीं कहा क्यों नहीं गए ऐसा नहीं पूछे बो, बो, बोल के अंदर देखो लफ्ज के अंदर देखो जिस जगह भेजा था वहां पर गए तुम क्यों नहीं गए ऐसा नहीं बोले क्यों नहीं गए बोल को पूछे तो डरे सर का होता हजूर सलाम इतनी बात भी नहीं बोले अपने गुलाम को हम लोग अपनी बीवी को भी गालें देते हैं बच्चों को भी गालें देते हैं बच्चे को बाप को छत्तीस का आंकड़ा रहता ये कि फोर्टी सेवन दे दिए तो दो जनों की लाशंक पड़ जाती वहां गुस्से में है खुद क्या कहते हो तो बाप को बेटे को बनती नहीं कई को बोले तो इसके भी अखलाक खराब इसके भी अखलाक खराब हजूर वसल्लम के सिलसिले में अनस इबन मालिक फरमाते हैं कि मैं मैं नौ साल या दस साल अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा लेकिन कभी भी मेरे से कोई कोई काम बिगड़ जाता तो हजूर वसल्लम ने यह नहीं कहा था कि तुमने ये क्यों नहीं किया ये जो क्यों नहीं किया ये लफ्ज डरे सर का होता ये भी नहीं बोले हुजूर सलासम क्या जी तीन दिन जाने वाले थे गए नहीं तुम्हें क्या कोई दादा है तू मेरे अजीजों अखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाकी मैार हमारे ज़िंदगी में होना चाहिए अल्लाह इज्जत ये अखलाक की वजह से अल्लाह इस्लाम फैलाते हैं और अल्लाह इज्जत और दीन की दावत को चमकाते हैं दीन की दावत को चमकाते अखलाक की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने काम करने वाले मातहत को अपने काम करने वाले मातियत को और ये एक बार भी ये नहीं कहा कि यह काम तुमने क्यों नहीं किया ये आप सल्लम के अखलाक जो हमारे लिए अता फरमाए जो हमारे लिए नमूना है लकद कान लकुम्फ़ी रसूल उसवतुल हसन बेहतरीन नमूना हमारे लिए हमारे नबी मोहम्मद रसूल वसल्लम है और इसलिए उलमाए उम्मत ने और सल्फ़ सालहीन ने और सूफिया ने इज़ाम में कि जिक्र उस वक्त में कराते थे जब अखलाक ठीक हो जाते थे यही बात फरमाते थानवी रमत कि जिक्र करना बगैर अखलाक के ऐसा है जैसे कि मैले कपड़े पर अतर लगाना पहले अखलाक ठीक करो फिर बाद में जिक्र करना बाद में क्या करना जिक्र करना अल्लाह में कदरदानी की तोफीक नसीब फरमा अल्लाह हमें कदरदानी की तोफ़ी नसीब फरमाए लेकिन मेरे अजीज़ों लेकिन मेरे अजीज़ों कभी कभी ऐसा होता है कभी कभी ऐसा होता है कि के बग़ैर अखलाक के किसके बग़ैर अखलाक के अगर आदमी बड़े दर्जे को चला गया वो बड़े दर्जे को जाना और उसको बड़े नुकसान में डाल देगा बड़े नुकसान में डाल देगा शेख सादी अली रहा फरमाते हैं अखलाक की कैंची तीन चीज़ें हैं कहते देखो भाई याद रख लो बात अखलाक की कैंची तीन चीज़ें हैं सबसे पहली बात है गीबत अखलाक को काट डालती है जिस आदमी की गीबत करता और उसका इकराम उन कर नहीं सकता कई बोले तो गीबत करता बुरा समझकर ये कराम करना अच्छा समझकर ये किच आदमी को बुरा बोल को ये किच आदमी को अच्छा कैसे समझ सकता अल्लाह में हमारे कल्ब में एक दिल रखी या दो दिल रखी एक दिल रखी या दो दिल रखी अखलाक की कैंची क्या है गिबत क्योंकि गिबत की बुनियाद क्या है उस आदमी को बुरा बताना और इकराम की इकराम का मैार क्या है इकराम की असलियत क्या है उस आदमी को अच्छा समझकर और उसके लिए तोज़ो इख्तियार करना जिस आदमी की गिबत कर दिया गोया के उसको बुरा बोल दिया अब उसका इकराम कैसे करेगा गिबत आदमी को डुबो देती गिबत आदमी को डुबो देती गिबत आदमी को हाँ दुनिया में ही उसका उसका बुरा असर जाहिर हो जाता दुनिया में ही उसका बुरा असर जाहिर हो जाता गिबत का अखलाक की दूसरी कैंची तकबर अखलाक की दूसरी कैंची क्या है तकबर और तकबर में क्या होता है आदमी अपने आप को बड़ा समझता अपने आप क्या समझता बड़ा समझता जब अपने आप को बड़ा समझेगा अब इन दूसरे के पवा कैसा धुलाता दूसरे के बैग कैसे उठाता दूसरे का इकराम कैसे करता जब उसने अपने दिल में सोच लिया कि मैं बड़ा हूं अखलाक खत्म अखलाक क्या हो जाएंगे खत्म थानवी रमतल्ला फरमाते थे अपनी बीवी पर भी तुम फोकियत मत रखना अपनी बीवी पर भी फोकियत मत रखना क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने घर में झाड़ू देते थे रसूल खुद अपने घर में क्या देते थे झाड़ू देते थे और आटा गूंथते थे अपने घर में अपनी बीवी पर भी फोकियत मत ले जाना कि मैं अफजल हूं और मेरी बीवी मफजूल है मेरी बीवी मफजूल है क्या पता वो कितनी बड़ी वलिया है तकबर तो बड़े से बड़े लोगों को डुबो दिया मेरे अजीज़ तकबर बड़े से बड़े लोगों को डुबो दिया ये वाक़ आप लोग सुनकर होंगे अब्दुल्ला उन्दुलसी नाम सुने होंगे आप कैसे अजीब व गरीब बात जुनेद बगदादी शिबली नौमानी वो लोग उनके उनके उनके मुरीदीन हैं उनके खलीफा हैं और उनके शागिर्द रशीद हैं ऐसे ऐसे लोग जिनके शागिर्द हैं और वो उस्ताद अब्दुल्ला उन्दुलसी और कैसे खुतबा देने वाले और कैसा बुखारी पढ़ाने वाले और कैसी हदीसें रिवायत करने वाले तीस हजार हदीसें उनको याद थी तीस हजार हदीसें और उनको याद थी एक बार सफर में जा रहे थे तो तो सनम खाने में पूजने वाले लोग थे कलीसा के अंदर के बुतों की इबादत करने वाले कुछ पुजारी टाइप के लोग थे उनको देखकर अपने दिल में सोचे ये कितने बेकार लोग हैं थोड़ा सा किब्र आ गया थोड़ा सा किब्र आ गया थोड़ा सा क्या आ गया किब्र आ गया थोड़ा सा किब्र आ गया मेरे अजीजों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंदर की दौलत पूरी की पूरी छीन ली उसी सफ़र में थोड़ा आगे चलने के बाद ये एक लड़की पर आशिक हो गए और उससे जाकर कहा से जाकर कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ और ये तो यहाँ के बादशाह की बेटी है और वो ईसाई है उसके पास गए तो बोले कि तू इतना बड़ा आदमी है मेरी बेटी पर आशिक हो गया कि हाँ मैं करने चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पर करना चाहता हूँ कि ठीक है एक साल मेरे सुअर चराने पड़ेंगे जिस आशा को लेकर मेंबर पर खुतबा देते थे कूफे की जामिया मस्जिद पर और जो उसी को लेकर सुअर चराया करते थे जर्रा सा तकबर जर्रा सा तकबर मेरे अजीज़ों बातिन की दुनिया को जलाकर खाक कर देगा खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये तकबर अल्लाह की चादर है तकबर किसकी चादर है अल्लाह की चादर है जो तकबर करेगा दुनिया में ही अल्लाह उसका नतीजा दिखा देगा दुनिया में ही अल्लाह उसका नतीजा दिखा देगा एक साल सवा साल गुजरा और उनके शागिर्द और उनके मुतकदीन दुआ करते थे अल्लाह रब्ज़त से और दुआ मांग कर और जो फिर एक साल के बाद पहुंचे और जब उनको देखे देखते ही सहम गए देखते ही सहम गए और करीब आकर कहने लगे कि के शेख क्या बात हो गई हम तुम्हें किस हाल में देख रहे हैं ये वो आशा क्या है और तुम्हारी कदर क्या है और तुम उधर देखो कि जो है वीरान पड़े हैं तुम्हारी खानकाहें और तुम्हारे मदरसे और तुम्हारे तालिबीन और परेशान हाल हैं तुम यहां पर कैसी हालत में हो दुआ की बरकत से उन लोगों के शौक़ की और दुआ की बरकत से अल्लाह ने उन्हें तोबा की तोफीक दे दी और उसी वक्त में हाल बदल गया और फिर ऐसे जैसे कि कोई चिड़िया हो और ऊपर से आके कल्ब में जम गई हो और फिर सारी हदीसें याद आ गई और सारी आयतें याद आ गई फिर सारी बातें याद आ गई और उसको उसी हाल में छोड़कर चल दिए बात के ज़माने में पूछा कि हज़रत ये हालत तुम्हारी कैसे हुई ये क्या बात हो गई थी तुम्हारे को ये ये क्या इब्तला थी तो फरमाया कि फ़ला कलीसा के अंदर और फला मंदिर के अंदर मैंने उन काफिलों को देखकर यह समझा था ये कितने बेकार लोग हैं किसी की तहकीर किसी की तहकीर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और कितने दर्जे कम कर डालते कितने दर्जे कम कर डालते हैं मेरे अजीज़ों हम लोग देखो फिर हमारे तकबर का हाल देखो कैसी कैसी हालत है हमारे तकबर के साथ हमारे नंदयाल के अमीर साहब हाजी अब्दुल गफूर साहब गौंडा गफूर साहब उर्फ बोलते हैं को टुकड़े होकर जाता है रेनू तकबर की ताबीर करते हैं तकबर की तोड़ ले को टुकड़े हो जाता है इनो इसे हंकियां दिखते नहीं आसमान चढ़ी इसकी हंक्या इसकी हंकियां आसमान चढ़ी मेरे अजीजों कि हमारा हाल देखो कैसा है जर्रा बराबर भी तकबर रहेगा अल्लाह दुनिया में ही इब्तिला कर देंगे हर तकबर वाले का तकबर अल्लाह दुनिया में ही तोड़ देंगे तकबर अखलाक की कैंची है तकबर अल्लाह अखलाक की कैंची है और तीसरे अखलाक की कैंची है मेरे अजीज़ों वो है दुनिया की मोहब्बत दुनिया की हिरस क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया था अखलाक वह आदमी कर सकता जिसका यकीन मजबूत हो अल्लाह के ज़ात आली पर भरोसा हो अल्लाह पर भरोसा करने वाला यकीन करने वाला और क़ियामत के बाद आने वाली ज़िंदगी पर भरोसा करने वाला वह अखलाक इख्तियार करेगा दुनिया के लिए करने वाला जो अखलाक ये इख्तियार करेगा वो बनावटी अखलाक होंगे ज़रूरत की वजह से करेंगे किसकी वजह से करेंगे ज़रूरत की वजह से दुनिया की मोहब्बत वाला दुनिया की गर्ज के लिए अखलाक दिखेगा फिर थोड़े दिन के बाद फिर थोड़े दिन के बाद छोड़ देंगे गर्ज के वास्ते हमारे उस्ताद मिसाल दिए थे हमारे उस्ताद मौलाना हाशिम साहब मिसाल दिए थे इसकी मिसाल देखो और जितने भी हुकूमत के कारिंदे हैं जो नेता लीडिंग में होते हैं उसके साथ अखलाक बरतते करते उन उतर जाते मज वही लोग पकड़ के जेल में ले जाते कहते जब तक लीडिंग में रहता वही चलोगा क्या कर दी सैल्यूट कर दी उन उतर गया तो फिर वही चलोगा पकड़ के जेल में ले जाती उनका जो अखलाक बरतना सेल्यूट करना था वो अखलाक दुनियावी गर्ज के वास्ते था जब दुनिया दूसरे से दिख रही है इसके खत्म अखलाक इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं देखो इस पर एक नतीजा समझो अल्लाह हमें कदरदानी की तोफ़ी अता फरमाए अल्लाह मुझे भी और आपको और सारी इंसानियत को अल्लाह सारे ईमान वालों को अच्छे अखलाक की तोफ़ी नसीब फरमाए मेरे अजीज़ों दुनिया के अंदर दुनिया के अंदर फ़ौर बदला मिलने वाली चीज़ें मरने से पहले फ़ौर दुनिया के अंदर फ़ौर बदला मिलने वाली चीज़ें सबसे पहली चीज़ है सिला रहमी अखलाक जिसका बदला फौरन दुनिया में मिल जाता ईमान का बदला दुनिया में मिलेंदे नहीं मिलेंदे आखिरत में मिलता नमाज का बदला दुनिया में मिलेंदे नहीं मिलेंदे कब मिलता आखिरत में मिलता जिक्र का बदला दुनिया में मिलेंदे नहीं मिलेंदे आखिरत में मिलता और रोज़े का बदला दुनिया में मिलेंदे नहीं मिलेंदे कब मिलता आखिरत में मिलता लेकिन सिला रहमी यानी कि अखलाक ऐसा अमल है और जिसका बदला दुनिया में हीच मिल जाता बहुत जल्दी मिलता बहुत जल्दी मिलता हुसैन अहमद मदनी रहमत फरमाते थे मौसाना हुसैन अहमद मदनी रहमत फरमाते थे कि अखलाक का अखलाक का पहला फ़ायदा यह है अल्लाह गैरों को ईमान देती गैरों को क्या देती ईमान देती अब हम लोग चले हैं बगैर अखलाक के दावत देने के लिए अखलाक का पहला फायदा क्या है अल्लाह दूसरों को क्या देते ईमान देते अल्लाह गैरों को क्या देते ईमान देते दूसरा फायदा है उम्र लंबी कर दें दूसरा फायदा क्या है उम्र लंबी कर दें तीसरा फायदा है औलाद फर्माबरदार बनेगी तीसरा फायदा क्या है औलाद फर्माबरदार बनेगी लेकिन मेरे अजीज़ों अखलाक की कैंचियां हैं देखो गीबत तकबर और तीसरा दुनिया की मोहब्बत ये तीनों ऐसे गुनाह हैं मरने से पहले इनका अजाब मिल जाता दुनिया में मरने से पहले इनका क्या मिलता दुनिया के अंदर अजाब मिलता मरने के बाद के अजाबात तो हैं हैं लेकिन मेरे अजीज़ों ये तीन ऐसी मुसीबतें हैं ये तीन ऐसे गुनाह हैं ये तीन ऐसी परेशानियां हैं लेकिन ये ऐसी तीन नाफरमानियां हैं कि जिनकी जिनका अजाब और जिनका वबाल दुनिया के अंदर ही चल रहा दुनिया में मरने से पहले बता डालती हूँ उसको इसलिए मेरे अजीज़ों हम लोगों के लिए ज़रूरी है हम अपने अखलाक दुरुस्त करें हम अपने अखलाक दुरुस्त करें क्योंकि यकीन वाले अखलाक को दुरुस्त कर सकते पहले ज़माने में पहले ज़माने में अखलाक दुरुस्त करके जिक्र देते थे पहले अखलाक दुरुस्त करके क्या देते थे जिक्र देते अखलाक दुरुस्त करके जिक्र देते इसकी भी एक मिसाल देता हूँ निज़ामुद्दीन शामजी रहमत निज़ामुद्दीन बल्खी उनके यहाँ अब्दुल्ला गंगोही पहुँचे शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमत के पोतरे शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमत के पोतरे पहुँचे उनके पास निज़ामुद्दीन बल्खी के पास क्योंकि कि उनसे उनको जिक्र मिला हुआ था कि चलो कि चलेंगे बहुत इकराम किया कि हमारे उस्ताद के पोतरे आको हैं बहुत इज्जत की तो फिर उन्होंने बताया मैं आपके पास कुछ सीखने के लिए आया हूँ अल्लाह के नाम का जिक्र लेने के लिए आया हूँ और आपसे ताल्लुक़ कायम करने के लिए आया हूँ मैं बोले कि ठीक है ठीक है हमारे बगीचे में कुत्ते हैं चोरों की हिफाजत के वास्ते चौदह कुत्ते वो कुत्तों की हिफाजत करो कुत्तों को नहलाओ कुत्तों को धुलाओ हाँ कुत्तों को चारा खिलाओ कुत्तों को पिलाओ और कुत्तों को टहलाओ और कुत्तों को जो है हिफाजत करो सोने में जागने में और उनको चराने में खिलाने में पिलाने में और उनकी देखभाल तुम्हारे जिम्मे कौन उस्ताद के पोत्रे उस्ताद के पोत्रे कुत्तों की हिफाजत उनके जिम्मे कुत्ते देखना और वो कुत्ते इतने खतरनाक कि उनकी बातिश नहीं मानते एक महीना डेढ़ महीने के अंदर एक महीने डेढ़ महीने के अंदर सूख गए हालत बदल गई हालत क्या हो गई बदल गई तो उस ज़माने में जो पखाने उठाने वाले जो जो लेटरिनों के अंदर कक्कस उठाने वाले टोकरों में ले जाया करते थे तो कहा कि उस उठाने वाली से कि कल सुबह को तो जब जाएगी तो उसके उसके करीब से जाके टक्कर मार के चलना क्या नहीं मार के चलना टक्कर मार के चलना तो वो पाखाना उठाने वाले जब उनके पास को वो टोकरा लेकर चली तो क्या बोले अरे कम वक्त कहां से चल रही दूसरा रास्ता नहीं मिला तेरे को मेरे करीब से चल रही ये बदबू लेकर हजरत समझे अभी जरा है मसला इसका अभी पूरा शैतान अंदर का नहीं उतरा अभी पूरा शैतान अंदर का नहीं उतरा फिर जब गुजरे महीना डेढ़ महीना या चंद दिन और जितने भी दिन गुजरे फिर कहा कि देख अब इस बार अभी जरा नजदीक से जाना अभी जरा कैसे जाना नजदीक से जाना तो उन अभी जरा नजदीक से गई तो पलट को घूर को देखेगा तो ऐसा घूर को देखना भी तकबर है घूर को देखना भी क्या है तकबर है तो देखे शेख साहब क्या हुआ न कहा घूर को देखें तो अभी अंदर का साफ नहीं हुआ अभी अंदर का क्या नहीं हुआ साफ नहीं हुआ और फिर जब थोड़ा सा और वक्त गुजरा और गुजरने के बाद में शेख साहब ने कहा अब ले जाके टोकरा ऊपर ही डाल डालना अब ले जाके टोकरा क्या कर दिया ऊपर ही डाल दिए तो उठ के क्या कर रहे हैं वो खुद भी गिर गए टोकरा भी गिर गया उठते टोकरा सही करके वो पाखाना हाथों से टोकरे में डाल रहेंगे थे और उस औरत से कह रहे माफ करना मैं आड़ा आ गया मैं तो दुनिया में आड़ा ही हूं बस मेरा वजूद ही आड़ा है दुनिया के लिए बस तू कुछ मत समझना मैं उठा के साफ करके दे देता हूं तू ले जाना मुझे माफ कर देना जब हजरत ने फरमाया जब इसके अंदर का मर गया अब क्या हो गया मर गया जब इसके अंदर का क्या हो गया मर गया अब अब ये अब ये जो काम करेगा इसके काम में तासीर होगी जब ये काम करेगा उसके काम में क्या होगी तासीर होगी जब इसके काम में तासीर होगी और फिर और वहां से असर लेकर आए और गंगो शरीफ में आए गंगो शरीफ में आए जिस गली से गुजरते जिस गली से गुजरते जिस गली से गुजरते और वो लोग कलमा पढ़ के ईमान में दाखिल हो जाते जिस गली से गुजरते कलमा पढ़ के ईमान में दाखिल हो जाते एक बार जंगल में गए जंगल में दूसरे पोलीमेरा का भी आदमी रहता ना जंगला में तो जंगल में अजान देने के लिए नमाज पढ़ने के लिए अजान दिए अजान सुने तो बाजू पास पड़ोस के खेता वाले बैठ कर रोते ही कहते अजान सुन को नौजबिल्लाजालिक हमें अजान दिए तो कुत्ते रोते शैताना को देखो किसे देखो शैताना को देखो लेकिन मेरे अजीज़ों के पास पड़ोस के खेतों वाले देख के रो रहे हैं तो लोगों ने पूछा कई को तुम लोग रो रहे हैं क्या है कि भाई हमारे को रोना कब आया हमें रोती हैं ये आदमी अजान दी उनके बाता में उनकी आवाज़ में ऐसा क्या है कि चलो उनके ने जाको पूछेंगे और जाके का, खेतों का काम छोड़ के आके उन्हीं के पास बैठ गए हजरत उनको कलमा पढ़ा के नमाज सिखाते हुए मस्जिद में आ गए नमाज सिखाते हुए मस्जिद में आ गए मेरे अजीज़ों हम लोग पूरी तरह अपने अमीर के भी ताबे नहीं बने हम लोग अमीर को भी घूर को देखते क्या तो जरा फर्क आया था तो तेरी जमात तू चला ले मैं दूसरी जमात में जाता हूं तेरी जमात तो चला ले मैं कहाँ जा दूँ दूसरे बात में मेरे टाइप का खाना मिलना मेरे टाइप की नींद मिलना मेरे टाइप का फिर फिरना मिलना मेरे टाइप का पान पीड़ा मिलना ऐसे अमीर की जमात में जा अल्लाह हमें माफ़ फरमाए मेरे अजीज़ों अखलाक हमारे कैसे बनेंगे अखलाक हमारे कैसे बनेंगे अखलाक हमारे कैसे बने मेरे अजीज़ों हम जिस मेहनत में लगे हुए हैं यकीन के साथ साथ ये अखलाक बनाने वाली मेहनत है यकीन के साथ साथ कौन सी मेहनत है अखलाक बनाने वाली मेहनत है हम हर चीज़ में अखलाक सीखना हमारे अखलाक का मैार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अखलाक का मैार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क्योंकि अखलाक अल्लाह इज्जत ने नबियों के रास्ते से इंसानियत को दिए हैं अगर नबियाँ अखलाक ना सिखाते और दुनिया बद अखलाक़ी को अखलाक समझते दुनिया बद अखलाकी को क्या समझते अखलाक समझते अब इस वक्त में यही हो रहा है हम लोग यकीन पर अखलाक पर मेहनत ना करने की वजह से हम बद अखलाकी को अखलाक समझ रहे बद अखलाकी को अखलाक समझ रहे मेरे अजीज़ों हमें यकीन सीखने की ज़रूरत है और यकीन सीखने के लिए हमें अंदरून में भी मेहनत करना और बैरून में भी मेहनत करना अंदरून में भी मेहनत करना और बैरून में भी मेहनत करना क्योंकि क्योंकि मौलाना इनामुल हसन साहब रहमत फरमाते थे मौलाना इनामुल हसन साहब रहमत फरमाते थे जो आदमी बैरून मुल्क में जमात में जाएगा अल्लाह उसका अंदरून बनाएंगे अंदरून बनने का नाम अखलाक है अंदरून बनने का नाम क्या है अखलाक है उसके अंदर से ऊ खत्म हो जाए क्या खत्म हो जाए उसके अंदर से ऊ खत्म हो जाए खुद मौलाना अहमद लाट साहब फरमाते मौलाना इनाम हसन साहब जब मामूर होते मोना इनामों से सब जब मामूर होते और जब जमात कहीं तशरीफ ले जाते अंदरून में या बैरून में जब अमीर साहब कहते सब साथियों को आ जाओ तो मोना इनाम साहब वजू करते हुए होते तो आधा वजू छोड़कर आ जाते अमीर साहब की आवाज़ सुनकर अमीर साहब की आवाज़ सुनकर आधा वजू छोड़कर आ जाते मोना इनाम साहब को तो जानते ही होंगे हजरत जी मोना जुबेर साहब के वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे अजीज़ों ये जो मेहनत है ये अंदर उनकी हो या बैरून की ये ये ये जो है हमारे अंदर को बनाने की मेहनत है जब हमारा अंदर का बनेगा अखलाक भी ठीक होंगे और यकीन भी बनेगा अखलाक भी ठीक होंगे और यकीन भी बनेगा पाकिस्तान के अब्दुल वहाब साहब एक मकतूब भेजे थे एक मकतूब भेजे थे और दिल्ली मरकज़ के अंदर एक मौके पर यह पढ़ा भी गया था खरूज की मेहनत के लिए तीन दिन की जमातों की कसरत करो हर काम करने वाला साथी तीन दिन लगाए हर काम करने वाला साथी और अपने महीने के क्या करें तीन दिन लगा हमारे को तो छोटी सी बात दिख रही लेकिन हमारे तीन दिन लगे हुए कई महीने हो चुके होंगे इल्ला माशा मेरे अजीज़ चाहे हल्का हो चाहे बस्ती हो चाहे गांव हो चाहे शहर हो तीन दिन की जमातों का माहौल के जितने काम करने वाले साथी हर साथी अपने महीने के तीन दिन अगर पाबंदी के साथ लगेगा लंबी तश्कीलों के लिए बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुलासा कला लंबी मेहनत के लिए लंबी लंबे खरूज के लिए और लंबी जमातों के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तीन दिन लगातार और अपने हर साथी के लगते रहेंगे अल्लाह रब्ज़त ऐसी हरकत हमारे इलाके में और अतराफ में करा देंगे अल्लाह रब्ज़त खुद ब खुद अपनी अपनी मस्जिदों से जमातें निकालेंगे हमारे पास जिम्मेदार साथी और इसके तजर्बे भी कर चुके हैं और अपने इलाकों के अंदर भी इन चीज़ों के तजुर्बे आप लोगों को भी हुए होंगे मेरे अजीज़ों बड़ी तश्किलों से पहले इस बात को अपने जहन में रख लो अपनी मस्जिद की और अपने मस्जिदवार जमात के साथियों की तीन दिन की जमात हर हाल में हर साथी के लगना नवे नवे साथियों के साथ लगना अब एक मसला यह भी है भाई बाहर मुल्क कुछ कह जाना भाई हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत है ना ज़रूरत बहुत है ना तकाजे भी बहुत है इसकी एक वजह मैं बताता हूँ इसकी वजूहत बहुत हैं वक्त कम है आखिर की एक बात बता देता मेरे अजीज़ों निकलने वाले साथियों की कुर्बानी कामिल करने के लिए निकलने वाले साथियों की कुर्बानी कामिल करने के लिए जब कुर्बानी कामिल होगी अल्लाह इज़्ज़त नतीजा अच्छा निकाले जब कुर्बानी कामिल नहीं होगी तो फिर नतीजा पूरा नहीं निकलेगा और इसकी मिसाल अगर एक आदमी है ये छिल्ले के अंदर या चार महीने के अंदर कि ये एक लाख रुपए खर्च कर सकता वो पाँच हजार में जा रहा है वो चार महीने कितने में जा रहा है पाँच हजार में जा रहा है तो बताओ जी उसकी कुर्बानी कामिल हुई क्या बोलो कुर्बानी कामिल हो सकती है जान की कुर्बानी तो दे रहे हैं चार महीने तो लग रहे हैं उसके लेकिन माल की कुर्बानी पूरी नहीं है माल की कुर्बानी पूरी नहीं जान की और माल की कुर्बानी पूरी होना बोले तो भाई कि जिसकी जितनी ताकत है और वो अपनी ताकत के मुआफिक दूर जाए ताकत के मुआफिक दूर जाए और जो तरतीब बनी हुई तीन साल में एक बार कि भाई दो साल तो हमारे मुल्क और हमारे इलाके के लिए है लेकिन तीन साल में एक बार बाहर के लिए है और जैसे हमें हमारे सूबा और हमारे हमारे मुल्क का हक है और इसी तरीके से हम आलमी उम्मत हैं और हम पूरे आलम के लिए बने हुए हैं इसलिए मेरे अजीज़ों हमें आलमी मेहनत करना है पूरे आलम के अंदर फिर कर इसके लिए मेरे अजीज़ों देखो नियतें करो इनशाला बैरून मुल्क में अंदरून मुल्क में चार चार महीने के लिए कौन कौन निकलने के लिए तैयार हैं ये हमारा निकलना यकीन सीखने के लिए और अखलाक सीखने के लिए इसके लिए बतलाओ कौन कौन तैयार है शादी खड़े होके नाम बताओ भाई खड़े होके नाम बताओ के लिए पांच माह के वास्ते बताओ भाई शादी बताओ भाई शादी कौन कौन तैयार है मंसूर इधर आओ बताओ भाई शादी भाई मजमा ऐसे सुकून के साथ बैठे रहे आपके बैठने पर इंशाल्लाह नाम आएंगे मौला अली भाई अल्लाह कबूल फरमा ले मौला अली भाई अल्लाह कबूल फरमा ले अब्दुल हमीद साहब नंदीगोट को अल्लाह कबूल फरमा अल्लाह आमीन बोलो भाई साथ अगले महीने दस तारीख में निकलेंगे इंशाल्लाह अकबर भाई नंदगोटपुर के अल्लाह कबूल फरमा ले मोहम्मद गौस भाई जय मजीद के अल्लाह कबूल फरमा ले अल्लाह आसान फरमाए और बताए भाई साथी बैरून के वास्ते पाँच माह इमाम हुसैन कौन सी मस्जिद बेतमचरला से बेतमचरला मुफ्ती साहब की में आए हैं और मुफ्ती साहब भी जो चल रहे हैं मुफ्ती साहब के साथ नकद है अल्लाह कबूल फरमा ले अल्लाह आसान फरमाए हाँ और बताए भाई हमारी भी तश्कील होकर है भाई दस तारीख में निकलेंगे हाँ मौलाना आप सभी हजरत दुआ करो इन शल्लासर और बताए भाई साथी अल्लाह कबूल फरमा ले अल्लाह आसान फरमाए अल्लाह कबूल फरमाए चौक मस्जिद चौक लिखो अल्लाह बताओ भाई साथियाँ बताओ महबूब बादशाह भाई अंदर उनके बाद चार महीने अल्लाह कबूल फरमा ले और बताए भाई साथी भाई साथ ही इरादा करो इन अल्लाह ताला निकलने की शक्लें और सूरतें पैदा करेंगे बताओ भाई साथी बेरून के लिए साथी बताओ पांचवा के लिए बताओ भी साथियाँ बताओ अंदरून के लिए भी बताओ चार महीने के लिए भाई अब अंदरून के लिए बताओ भाई साथी चार महीने अंदरून के लिए भी बताओ चार महीने के लिए अब तक जिसके चार महीने नहीं लगे हैं ऐसे साथी खड़े हो गए बताओ भाई क्योंकि हमारे पूरे अकाबिर की फिक्र है कि हर मुसलमान के चार महीने लगे बरसों से हम सुन रहे हैं एक लंबा वक्त हम पे से गुजर गया है लेकिन अभी वक्त नहीं लगा तो जो है हमारे लिए सोचने की बात है बताओ भाई साथियाँ बताओ बताओ भाई साथी चार चार महीने के लिए बताओ देखो कर्नूल के ताल्लुक से कारगुजार भी सुनाता हूँ मैं हमारे सादिक सादिक फरमाए जय अहमद जी हमारे पड़ोसी हैं लिखो सादिक अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह आसान फरमाए और बताएं भाई सादिक सुनो भाई दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह देखो हमारी एक जमात अमरावती में काम कर रही थी तो हम लोग नुसरत के लिए गए थे करनूल के भी चंद साथियाँ थे हमारे साथ वो दूसरी जमात की नुसरत के लिए आए थे हम बेदम चल्ला की जमात की नुसरत के लिए गए थे हम सब एक होटल के पास मिले थे जगह एक जगह पर तो होटल में एक साथी आकर मिले चाय वगैरह पी रहे थे साथी तो उन्होंने पूछा भाई कहाँ की जमात है क्या करनूल की तो उन्होंने कहा माशाल्लाह करनूल के वहां तो पूरे साथियों के चार महीने लग गए होंगे तो फिर उसने पूछा हमारे साथियों में से एक साथी को पकड़ के वो साथी इस वक्त में चार महीने में है गुंटूर में चल रही जमात हमारे करनूल के उन कुछ पकड़ के पूछे आ, क्या भाई तुम्हारे चार महीने लगे क्या उनके पूछे तो उन्होंने बिल्कुल शर्मिंदा सी होके अरे नहीं भी नहीं लगे अरे कर्नूल की होगी तुम्हें तो चार महीने नहीं लगे भाई हम तो दस साल से तो यह सुन रहे हैं कि कर्नूल के हर शादी के चार महीने लगे हुए तो भाई देखो बड़ी इबरत की बात थी लोगों की नेक गुमान की लाज रख ले वैसा भाई देखो लोग तो हमारे लिए बहुत नेक गुमान रख रहे हैं लोग तो खड़े होके बताओ बहुत नेक गुमान रखते हैं लेकिन हम लोगों का देखे तो यहाँ पर बहुत कम है भाई देखो औसत हमारा औसत बहुत कम है इस मज में भी बहुत सारे साथी होंगे जिनके चार महीने नहीं लगे अभी खड़े हो जाओ भाई लगाओ इंशाल्लाह भाई शादी खड़े हो जाओ भाई जिनके चार महीने लगे शादी खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ शर्मिंदगी की बात नहीं है अल्लाह के लिए अल्लाह के घर में खड़े होना है ये जो है पहला कदम है चार महीने निकलने के लिए खड़े हो जाओ भाई खड़े हो जाओ भाई साथी इंशाल्लाह मुफ्ती साहब दुआ भी करेंगे खड़े हो जाओ भाई साथी अल्लाह कबूल फरमा लें उमर कौन सी मस्जिद मस्जिद सादिक अल्लाह कबूल फरमा लें नूर अहमद मस्जिद नूरानी अल्लाह कबूल फरमा लें सैयद हुसैन भाई मस्जिद जुलेखा ने अल्लाह कबूल फरमा लें और बताए भाई साथी नाम आना शुरू हो गया बताओ भाई साथी इब्राहिम कौन सी मस्जिद बंगला मंडल के हैं इब्राहिम भाई अल्लाह कबूल फरमा ले कबूल फरमाए बताओ भाई साथी नगद चार महीने तैयार हो गए हैं अल्लाह ताला जो है कबूल फरमा ले अल्लाह कबूल फरमा ले और बताए भाई साथी भाई साथी इरादा करो भाई इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देंगे निकलने की बताओ भाई साथी बाहर वाले साथी भी नाम बताओ एक दूसरे साथियों को पूछ लो भाई इंशाल्लाह दुआ कर लेंगे देखो इरादे करो तो निकल अकबर भाई मज्जे जुलेखा ने अकबर भाई अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह कबूल फरमाए आमीन और बताया बिसाती और बताओ बिसातियाँ बताओ अल्लाह कबूल फरमा ले अल्लाह आसान फरमाए और बताए भाई साथी बताओ भाई साथी हम बताओ अल्लाह कबूल फरमा ले और बताए भाई साथ माशा अल्लाह कबूल फरमा ले शाह शाह वाली कौन सी मस्जिद बेतम चल बेतम चल अल्लाह कबूल फरमा ले सोहबत का असर अल्लाह मुबारक करे अल्लाह कबूल फरमा ले मुफ्ती साहब की सोहबत याफ्ता है अल्लाह मुबारक करे <laughs> अल्लाह कबूल फरमा ले भाई मोहम्मद रफ़ीक कहाँ वाले मस्जिद बानो भी मोहम्मद रफ़ीक अल्लाह कबूल फरमा ले आपका नाम लिखे अब्दुल रहमान कौन कौन सी मस्जिद लिखने वाले उधर सामने के हिस्से में है भाई उधर भी लिखाओ नामा भाई उधर भी लिखाओ लिखाओ भाई साथी अल्लाह कबूल फरमा ले अल्लाह आसान फरमाए और बताया भाई साथ और भी बताओ भाई साथ भाई राधा करो इनशाला ये लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेकी है बताओ साथी बताओ भाई साथियों बताओ खामोश ना बैठो बताते रहो बताते रहो भाई बात सुनने का तकाजा है कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि जो है इरादों का इजहार करें मोहम्मद जहीर कौन सी मस्जिद भाई मौला मिस्किन मस्जिद मोहम्मद जहीर अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह ये मजलिस का हक है भाई देखो नाम लिखाना ये नाम लिखाना भी अखलाक है देखो मैं कुछ और सोच के आया था बात अखलाक से शुरू हुई अखलाक ब्रिज खत्म हो गई अल्लाह आप साहब खड़े हो जाओ अब्दुल रकीब खड़े हो जाओ ये अल्लाह की मर्जी है बोलो हाफिज अब्दुल रकीब साहब चार महीने के लिए अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह आसान फरमाए और मजलिस में बैठे हैं इस मजलिस में नियत करके नाम लिखाना भी अखलाकी फरीजा है कहाँ कौन सी मस्जिद पीली मस्जिद अल्लाह कबूल फरमा ले अल्लाह आसान फरमाए और बताए साथी इस मजलिस का हक है इस मजलिस में बैठने वालों का हक है कि भाई आप नियत करें और इरादा करें नाम लिखा है मस्जिद चौक नहीं मालूम इरादा करो इंशाल्लाह दुआ होगी खड़े हो जाओ तालिब इल्म है आप फिर खड़े हो जाओ चार महीने के वास्ते खड़े हो जाओ जी खड़े हो जाओ फिर इंशाल्लाह दुआ होगी खड़े हो जाओ मोहम्मद शाकिर कौन सी मस्जिद छतरीबाग छतरीबाग आपका नाम क्या है अब्दुल्ला और मोहम्मद शाकिर दोनों ही छतरीबाग मस्जिद के अल्लाह कबूल फरमा ले और बताए भाई साथ अब्दुल कलाम भाई बेरोन का इरादा करो पाँच महीने के वास्ते मुफ्ती साहब पे जा रहे हैं अब्दुल कलाम भाई का इरादा है पाँच महीने के वास्ते अल्लाह कबूल फरमा ले जय मस्जिद क्या है और बताए मेरे साथ चिल्ले का और हाँ, चिल्ले का हो गया चालीस क्या तुम मस्तूरात के साथ हो? नहीं मस्त मर्दों की जमात चालीस दिन नवंबर दो को महाना मशवरा है वैसा हाँ। तो चिल्ले के लिए तो भी औरतों का ही होना चाहिए नहीं वैसा हाँ चिल्ले की जमात मर्द हजरात की क्या तो मर्द लोग चिल्ले के वास्ते भी निकलते हैं क्या <laughs> क्या करें चिल्ले ठीक है भाई ठीक है भाई बोलो भाई चालीस दिन के वास्ते बताओ भाई चालीस दिन के वास्ते भी कहते बताओ भाई चालीस दिन के लिए जमाते जमाते बताओ आ नन्नूर से नगद जमाते शादी करीब आ जाओ भाई और जो नगद जमात तैयार हो गया है और साथी आगे आ जाओ दुआ के बाद इनशाला मुसाफा होगा शुएब जय मस्जिद लिखो बिलाल मस्जिद से अगली इतवार को एक जमात है चालीस दिन के अल्लाह कबूल फरमाए आत्मा से अच्छी बात है अल्लाह कबूल फरमा ले अल्लाह आसान फरमाए जमाते लिखा भाई चिल्ले भाई जो शादी नगद तैयार हो गया है सामने आ जाओ बेदम चरले की शादी भी सामने आ जाओ भाई नगद तैयार हो जाओ आ जाओ इंशाल्लाह दुआ के बाद मुसाफा होगा मस्जिद चौक से एक जमात छिल्ले की अल्लाह कबूल फरमा ले अल्लाह आसान फरमाए और बताए भाई मुजम्मिल मस्जिद पुलिस लाइन के मुजम्मिल अल्लाह कबूल फरमा ले और बताए भाई इनफरादी में नाम आ रहे हैं और जमातें भी इनफरादी भी बताओ मस्जिद की तरफ से या हल्के की तरफ से जमातें भी बताओ और बताया बैसाखी मतलब जल्दी जल्दी बताओ भाई साथियाँ देखो भाई जो शादी चल रहे हैं अल्लाह के रास्ते में आज नकद वो शादी सामने आ जाओ आ जाओ इब्राहिम भाई सामने आ तुम्हें आओ हजरत उनको भेजाओ सामने नकद तैयार हो गए जो जमात तैयार हो गया है नकद वो सामने आ जाओ भाई शादी जितनी मुसाफा करना अलग है जमात पहले मुसाफा करना उसका असर अलग पड़ता है आ जाओ साथी अल्लाह के रास्ते में जो जा रहे हैं उनसे पहले मुसाफा होगा उसके बाद दूसरे साथी भी इंशाल्लाह मुसाफा करेंगे सर बैठो अल्लाह मुबारक करे भाई आज अल्लाह कबूल करे आ जाओ बैठो सामने आओ भाई आ जाओ भाई साथी आ जाओ बेदम चल लगी आ जाओ भाई साथी सामने आ जाओ अल्लाह कबूल फरमा अल्लाह आसान फरमाए आमीन आमीन बताओ भाई चिल्ले के साथ यहाँ बताओ भाई साथ यहाँ ठीक है ठीक है भाई दुआ कर हाँ ये ऐलान करने का है आ जाओ भाई सामने आ जाओ चलने वाले साथ सामने आ जाओ अल्लाह मुबारक करे आ जाओ भाई साथी निकलने वाले साथ आए मेरे ये नगद तैयार हो गया है आ जाओ सामने आ जाओ नौजवान साथी भी है बड़े भी हैं आ जाओ सामने आ जाओ और जगह मिर्जा दिशाला आ जाओ और बादशाह सामने आओ अल्लाह ताला जो है मदद फरमाए और अल्लाह आसान फरमाए आ जाओ भाई साथी सामने आ जाओ अच्छा भाई सारे साथी इरादा करो क्योंकि हम सबके एक दिन इस दुनिया से निकलना है निकलने से पहले निकलने की तैयारी के लिए चार महीने चालीस दिन जो है अल्लाह के रास्ते में निकल कर मेहनत आखिरत की की जाती है ताकि हमारा निकलना हमेशा का आसान हो जाए उसके लिए साथी हर साथ इरादा करो इन अल्लाह के रास्ते में दूर और देर के लिए कम वक्त ज़्यादा वक्त के लिए इंशाल्लाह निकलेंगे सभी साथी इरादा करो इनशाला इनशाला कबूल फरमा लें फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ इतवार को जो है इजतम होता है हम सब जानते हैं कि जितना मजमा यहाँ बैठा है हर साथी अपनी ज़ात से इस बात की फ़िक्र करें कि हमारे मिलने जुलने वाले जिनका हमारे जो है बहुत सारे ताल्लुक़ हैं असर रसूख हैं अब से लेकर जो है हफ्ते तक मेहनत करके इतवार के दिन साथी खुद भी आए और अपने साथियों को कम अज़ कम एक साथी भी अगर आया तो इससे दुगना बजमा हो जाएगा बल्कि हमारे बेशुमार साथियाँ जो है ताल्लुक़ हैं सब कुछ जो है दावत दें जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा अल्लाह की तरफ से खैर वजूद में आएगा हिदायत का एक ज़रिया बनेगा सब शादी करेंगे ऐसा इन दुरेश्वर पर इन दुआ होगी ठीक है भाई दुआ के लिए भी मुस्तम हो जाओ भाई दुआ से पहले एक बात भी सुन लो दुआ के अव्वल में दुआ के दरमियान में दुआ के आखिर में दरुज शरीफ पढ़ना ये दुआ का रुकन है दुआ का क्या है रुकन है और दुआ से पहले एक बात और भी जहन में रखिए कि अल्लाह से मांगने का नाम दुआ है अल्लाह के गैर से मांगने का नाम सवाल है सवाल करने वाला ज़िल्लत में और दुआ मांगने वाला इज्जत दुआ मांगने वाले के लिए इज्जत लिख दी गई सवाल करने वाले के लिए ज़िल्लत लिख दी गई इसलिए मेरे अजीज़ों हम जब भी कोई चीज़ मांगे तो अल्लाह ताला से मांगे हम अपनी दुआ में ये चीज़ भी शामिल करें अल्लाह ताला हमारे यकीन के साथ साथ अल्लाह हमें ये अखलाक की दौलत भी अता फरमाए क्योंकि जिस तरह से यकीन हमारे लिए ज़रूरी है और अखलाक भी उसी दर्जे के ज़रूरी है हमारे काम के लिए यकीन और अखलाक दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरत की हैं और यही हमारे काम की बुनियादों में से हैं अल्लाह रब्ज़त हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तोफ़ी मरहमत फरमाए बहुत बीमार हैं اللهم اغفر مد محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم مد محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما ہمارے خطا درگزر فرما ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما مراشد امور الحم فرما اے اللہ ہمیں یقین کامل کی توفیق مرحمت فرما हमें अखलाक के कामिल की भी तोफ़ी मरहमत फरमा अल्लाह हमें दूर और देर के लिए निकलने की तोफ़ी नसीब फरमा अल्लाह हमें दायान सिफात के साथ काम करने की तोफ़ी मरहमत फरमा अल्लाह अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा गुनाहों का वबाल हमसे ख़त्म फरमा अल्लाह हमारी मगफरत फरमा अल्लाह हम इस मेहनत में तेरे फजल से लगे हुए हैं हमारी मेहनतों को कबूल फरमा अल्लाह हम जो तश्कीलें करते हैं उनको भी कबूल फरमा जिन लोगों से मिलते और जुलते हैं उनको भी कबूल फरमा अल्लाह पूरी इंसानियत के अल्लाह हिदायत के फ़ैसले फरमा पूरी इंसानियत के लिए खैर के फ़ैसले फरमा पूरी इंसानियत के लिए शिफा के फ़ैसले फरमा उम्मत की मखफरत फरमा उम्मत की हिफाजत फरमा उम्मत की मदद फरमा अल्लाह अल्लाह हमारी ज़रूरतों की कफालत फरमा अल्लाह दुनिया और आखरत के लिए अल्लाह हमारे लिए कबूल और मकबूलियत अता फरमा अल्लाह वसलम दाइमन अबदा अल्लाह जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा जिन लोगों का पर हक है जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके अल्लाह उन सब के जायज़ मकसदों में कामयाबी नसीब फरमा अल्लाह इस वक्त में जिसकी दुआ के लिए कहा गया अल्लाह उनके लिए भी शिफाए कामिल आता फरमा अल्लाह अल्लाह बुज़ुर्गों की दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमा नेक लोगों की दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमा अल्लाह तो हमारी मदद फरमा कदम कदम पर यानत फरमा अल्लाह वसली वसलम दाइमन अबदा अला हबीब का खैर खल़ी कुल्लिम अल्लाह हमने जो मांगा है उसे भी अता फरमा बहुत सारी चीज़ें मांगने से रह गई जो हमारी ज़रूरत की हैं अल्लाह तो गैबी फजल से अल्लाह उन चीज़ों का इंतज़ाम फरमा सल्ला तैर खल़ी महमद वाली वासहाबी अजमाइन बिरहमत के यारमीन वलहमदिल्ला रबालमीन